चुनाचे इस सच्चे वादे के मुताबिक उनको एक चिंगाड़ ने आ पकड़ा और हमने उन्हें कूड़ा करकट बनाकर रख दिया फिटकार है ऐसे जालिम लोगों पर